अल्लाह ने फरमाया तू यहां से जलील रसुआ होकर निकल जा यकीनन इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो वो तेरा साथी होगा और मैं तुम सबसे जरूर जहन्नम को भर दूंगा